तो मुझे अपने गुंडों को बरी कराने का काम आसान हो गया इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि भाई ये जूरी सिस्टम चलेगी तो, तो जमींदारी खत्म हो जाएगी और उन्हें हर हाल में जमींदारी सिस्टम को बचाना था इसलिए उन्होंने जूरी सिस्टम खत्म कर दी तो उन्होंने नानावटी का केस को एक्सक्यूज बनाया हकीकत में देखो तो नानावटी के केस में आ, नानावटी किस सेंस में इनोसेंट था कि उस समय जूरी ने ऐसा नहीं कहा कि ये इनोसेंट है जूरी ने ये सोचा कि इस आदमी को हम कहेंगे कि ये गिल्टी है तो जज इसको फांसी पे चढ़ा देगा दानावटी ने जो क्राइम किया था किसी आम आदमी से पूछो तो वो कहेगा कि हाँ क्राइम किया है कितनी सजा होनी चाहिए कि भाई फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए क्योंकि आदमी नेवी का अफसर था वो भी करोड़पति उस समय के करोड़पति उस समय के करोड़पति व्यक्ति के संतान यदि सेना में जाती है और वो भी नेवी में तीनों सेना में सबसे ज्यादा कठिन जिंदगी ने भी की होती है महीनों तक तुम्हें फैमिली से दूर रहना पड़ता है सबमरीन के अंदर या जहाज के अंदर तो इस आदमी को और सामने जो दूसरा केस था आहूजा जो भी उसका नाम हो वो एकदम कमीना आदमी था तो ओ, ओ, उस आदमी को मार दिया तो, तो लोग बोलेंगे अच्छा क्या मार दिया मेरी ओर से एक, एक गोली और चला देनी थी तो जो आ, इस केस में आम आदमी ने जो डिसीजन लिया वो ठीक लिया कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए पर जूरी को ऑप्शन क्या था कि भाई इस आदमी को फांसी देनी या नहीं जूरी को ये ऑप्शन ही नहीं दिया गया कि आप पांच साल की सजा दो सात साल की सजा दो दस साल की सजा दो फांसी की सजा दो मैंने जो जूरी सिस्टम प्रपोज किया उसमें सजा जूरी तय करेगी जज तय नहीं करेगा क्योंकि जज अधिकतर रिश्वतखोर होते हैं वो उनके रिश्तेदारों से उनके सांठ होती है तो उस समय इसलिए जो नौ लोग उस समय जूरी में थे उन्होंने देखा कि यदि हम गिल्टी का जजमेंट देंगे तो, तो जज उसको लटका देगा और इस आदमी को हर हाल में फांसी नहीं होनी चाहिए इसलिए उन्होंने नॉट गिल्टी का जजमेंट दिया और अंत में रिट्रायल हुआ रिट्रायल हुआ तो जज ने उसको फांसी की सजा दी और नेहरू ने उसको बरी कर दिया तो भाई जब नेहरू ने बरी किया तब वो अच्छा आदमी था और जहानिया झूरी ने उसको बरा किया तो वो सब गलत आदमी हो गए नेहरू ने क्यों बरी किया क्योंकि वो आदमी बहुत सीनियर पोजीशन पर आ चुका था वो बोलता कि भाई तुम मेरे को फांसी की सजा कैंसिल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बहुत सारे भ्रष्टाचार एक्सपोज कर दूंगा पब्लिक में जो नेवी के सीनियर पोजीशन पे होता है उसके मंत्रियों की बहुत सारी इधर उधर के कच्चे चिट्ठे उसके पास होते हैं इसलिए नेहरू को उसको पार्डन देना पड़ा और दूसरा वो पार्डन के हकदार भी क्यों था कि इसे बोलते हैं कि आदमी आवेश में आकर यदि हत्या करता है किसी की तो फांसी की सजा अधिकतर देशों में नहीं होती फांसी की सजा कब होती है कि जब आदमी ठंडे कलेजे खून जो कहते हैं कि एकदम सोच समझ के बिल्कुल ठंडे दिमाग से पैसे के लिए प्लानिंग के साथ मर्डर करता है तभी उसे फांसी की सजा दी जाती है तो नानावटी केस अपने आप में मैं कहूंगा अच्छा केस था कि जूरी ने समझदारी का सबूत दिया कि इस आदमी को फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए नहीं दी और जूरी सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है कि भाई जूरी के पास पावर होना चाहिए कि पांच साल की सजा तीन साल की सजा सात साल की सजा दस साल की सजा या फांसी की सजा तो जूरी ने उसे पांच सात साल की जेल की सजा दे दी होती लेकिन जवाहरलाल नेहरू का मोटिव क्या था और सुप्रीम कोर्ट के जजों का मोटिव क्या था कि उन्हें हर हाल में ज्यूरी सिस्टम खत्म करनी थी उन्होंने इस केस को लेकर ज्यूरी सिस्टम खत्म कर दी अब हम ज्यूरी सिस्टम का ग्लोबल ओवरव्यू लेते हैं तो कौन कौन से देशों में ज्यूरी सिस्टम है मैं देश के दुनिया के एक कोने से शुरू करता हूँ कैनेडा में ज्यूरी सिस्टम है अमरीका में ज्यूरी सिस्टम है और बाकी लैटिन अमेरिकन सिस्टम में कहीं भी नहीं है मैक्सिको वगैरह कहीं ज्यूरी सिस्टम नहीं है तो कैनेडा अमरीका उसके बाद स्पेन में जूरी सिस्टम है पोर्टुगल में है ब्रिटेन में है फ्रांस में है जर्मनी में है स्कैंडिनेविया के चारों देशों में Norway Sweden Finland Denmark Netherland चारों देशों में है उसके बाद इटली में जूरी सिस्टम है और रशिया में 90 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से कुछ 15 डिस्ट्रिक्ट में जूरी सिस्टम है और बाकी में जन लाने की मांग चल रही है अफ्रीका में कोई जूरी सिस्टम नहीं है भारत में जूरी सिस्टम थी खत्म कर दी गई और ऑस्ट्रेलिया में जूरी सिस्टम है न्यूजीलैंड में जूरी सिस्टम है जापान में जूरी सिस्टम लाई गई 2010 की साल से उन्होंने भी देखा कि भाई जज सिस्टम में बहुत भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद चलता है जापान की सोसाइटी इस तरह की है कि लोगों ने गालियां नहीं दी और न्यायाधीशों ने भी देखा कि भाई गालियां दे लोग गालियां दे उससे पहले ही सुधर जाओ तो वहाँ जूरी सिस्टम आई लोगों ने मांग की और जुडिशरी ने विरोध भी नहीं किया और चीन में भी अभी ज्यूरी सिस्टम आ रही है चीन में ज्यूरी सिस्टम काफी कंस्टेंट है एक बहुत ही कमजोर ज्यूरी सिस्टम है उसे आ, अमेरिका की तुलना में तो बिल्कुल वीक ज्यूरी सिस्टम है पर फिर भी उन्होंने क्यों ज्यूरी सिस्टम लाई थोड़ी तो थोड़ी कि उन्होंने देखा कि भाई जुडिशरी के जो करप्शन का और नेपोटिज्म का प्रॉब्लम है वो अनकंट्रोलेबल है दुनिया में आज तक कोई भी आदमी ये सॉल्यूशन नहीं दे पाया कि जज सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए जज system has to be ended it cannot be mended वो यूटोपियन जज का जो कंसेप्ट है कि एक ऐसा ईमानदार जज आएगा जो अपने रिश्तेदारों को फेवर नहीं करेगा अपने दोस्तों को फेवर नहीं करेगा वो रिश्वत नहीं लेगा मतलब ऐसा दुर्योधन ऐसा धृतराष्ट्र आएगा जो कभी दुर्योधन की फेवर नहीं करेगा ऐसा ऐसी जुडिशियरी मतलब हजार में से एक दो जज ऐसे मिल जाएंगे होंगे मैं मना नहीं करता पर इसने इस तरह से एक्सपेक्ट करना कि हजार में से मेजोरिटी यानी 700, 800, 900 जन जैसे होंगे ये यूटोपियन कंसेप्ट है बेवकूफ़ी यूटोपिया शब्द का अर्थ होता है बेवकूफ़ी ये बेवकूफ़ी वाली बात है आ, उनके नहीं इसलिए चाइना में भी अब जूरिस्ट मारे और आप देखो यही देश है जहाँ पे क्राइम कम है डेवलपमेंट ज़्यादा है करप्शन कम है कि मैंने आपको देश गिनाया फिर से गिनाता हूँ Canada America England Portugal France Germany Italy और चार Latin American country Sweden Norway Finland Denmark और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और जापान और अब चीन में धीरे धीरे ज्यूरी सिस्टम आ रही है हांगकांग में भी ज्यूरी सिस्टम है हांगकांग में भी अंग्रेजों ने ज्यूरी सिस्टम इसलिए रखी क्योंकि अंग्रेजों देखते थे कि यदि सारा पावर हमने यदि हमारे अफसरों को दे दिया तो अफसर वो लोगों को लूट लेंगे हमारी बदनामी होगी हमें हांगकांग छोड़ना पड़ेगा अब इंडिया इस करप्शन जो है उसमें उन्होंने हांगकांग का एग्जाम्पल दिया कि हांगकांग में लोकपाल आया करप्शन कम हो गया भाई हांगकांग में करप्शन इसलिए कम हो गया क्योंकि वहां ज्यूरी सिस्टम है वहां पे ज्यूरी ने लोगों को जेल में भेजना शुरू किया इसलिए वहां पे करप्शन कम हुआ और ऐसा नहीं है कि लोकपाल तो फिलीपींस में भी है वहां क्यों करप्शन कम नहीं हो रहा ऊपर से फिलीपींस में तो करप्शन इंडिया से ज्यादा है बहुत सारे देशों का लिस्ट देख लीजिए वहां पे लोकपाल है और आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप अक्सर जो कल्चर की बात करते हैं कि करप्शन कल्चर में कल्चर में तो आप मैक्सिको में जाइए मैक्सिको में पुलिस है वो मार पिटाई करती है पैसा लूट लेगी सब कुछ जो मतलब गुंडे और पुलिस में वहाँ कोई फर्क नहीं है और मैक्सिको से आप कार से शुरू कीजिए और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होगी दूसरी तरफ टेक्सास है तो वहाँ पे ऐसे इस तरह के आपको कोई क्राइम्स नहीं दिखेंगे क्यों क्योंकि बॉर्डर का कल्चर कल्चर का मतलब होता है कंटिन्यूटी चलो आज कंटिन्यूटी नहीं है लेकिन आज से डेढ़ सौ साल पहले तो कंटिन्यूटी थी एक जमाने टेक्सास भी मैक्सिको का हिस्सा था तो जहां पे ज्यूरी सिस्टम आई वहां पे महीने दो महीने में करप्शन कम हो जाता क्राइम कम हो जाता तो कल्चर तो वही था जो डेढ़ महीने पहले था कल्चर तो डेढ़ दो महीने में बदल नहीं सकता तो ऐसा नहीं है कि क्राइम और करप्शन का जो प्रॉब्लम है वो व्यवस्था पे डिपेंड करता है यदि व्यवस्था इस तरह की है कि गुंडा है वो आसानी से जज के साथ शॉर्टकट बना सकता है और उसके द्वारा वो खुद को और अपने सारे गैंग मेंबर को एक के बाद एक रिहा कर सकता है तो वहां पे क्राइम ज्यादा होगा करप्शन ज्यादा होगा अब आ, जो मैंने आपको ज्यूरी के बारे में हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन दी तो इंडिया में भी ज्यूरी सिस्टम ला सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है जो छह साल चली उसमें किसी ने नहीं बोला था अनकॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जरूरत भी नहीं है और यदि जज बोलता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है तो right to recall Supreme Court से चीफ जज निकाल दो नौकरी से उसको ऐसे जज को लाओ कि जो जजमेंट दे कि कॉन्स्टिट्यूशनल है और right to recall Supreme Court जज है वो तो बहुत सारे वकीलों को मैंने दिखाया आप भी दिखा सकते हैं किसी भी वकील को वो पढ़ने से ही मना कर देंगे लेकिन यदि गलती से पढ़ लिया तो उसमें से कोई गलती नहीं निकाल पाएंगे कि इसमें से कौन सा क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अब जो मैंने जूरी सिस्टम का प्रपोजल दिया है उसमें कुछ कुछ केस में मर्डर के केस में बलात्कार के केस में छेड़खानी के केस में सेक्सुअल हरेसमेंट जो ऑफिस वगैरह में होता है उस केस में ज्यूरी को पावर दिया है कि वो नार्को टेस्ट ले सके पब्लिक में यदि उन्हें लगे कि भाई इस केस में कुछ सच्चाई है बहुत सारे केस है कि जिसमें सबूत मिलना मटीरियल सबूत मिलना मुश्किल होता है कि विटनेस कहाँ से मिलेगा छेड़खानी का केस हो जाए उसमें विटनेस कहाँ से मिलेगा और इसी तरह से ये जो केस है आ, सूदखोरी के केस कि जो सूदखोर होते हैं वो महीने के 10-10 परसेंट इंटरेस्ट लेते हैं महीने के साल के नहीं महीने का 10 परसेंट यानी साल का 100 परसेंट एक परसेंट इंटरेस्ट हो गया तो वो भी पूरा कैश ट्रांजैक्शन होता है सबूत तो होता नहीं लेकिन नार्को टेस्ट लो उस सूदखोर का तो फटाफट सबूत निकलेंगे कि उसने एक दो नहीं सौ दो सौ आदमियों से इतना ही सूदखोरी लेके उनको एकदम कंगाल बना दिया और आत्महत्या के पॉइंट पे पहुंचा दिया और अक्सर लोग आत्महत्या कर भी बैठते हैं तो ऐसे केस में नार्को टेस्ट के द्वारा और सबूत ले सकते हैं और जज के पास नार्को टेस्ट का पावर हो तो कितना मिसयूज होता है कि हमारे यहाँ नार्को टेस्ट लेना है या नहीं लेना जज के पास जज डिसाइड करता है तो जज ने क्या डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि जो आरोपी है एक्यूज उसकी परमिशन के बिना नार्को टेस्ट नहीं होगा यानी कि कसब जैसा आदमी आता है सौ दो सौ को उड़ा देता है तो भी उसकी परमिशन के बिना नार्को टेस्ट नहीं हो सकता जो कसब का नार्को टेस्ट हुआ वो ये जजमेंट आने के चार महीने पहले हुआ था वरना यदि ये जजमेंट चार महीने पहले आया था तो कसब का भी नार्को टेस्ट नहीं होता यानी कसब हो या हसन अली हो या ए राजा हो ये जो एक्यूज है उनके परमिशन के बिना नार्को टेस्ट नहीं लेना चाहिए ऐसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं तीन जज ने जजमेंट दिया था और जो एग्जिस्टिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के जज है वो भी उसको कायम रखना चाहते हैं उन्होंने इस जजमेंट उनके पास पावर है कापड़िया के पास पावर है कि वो तो इस जजमेंट को रिवर्स कर सके पांच जज की बेंच बिठा के पर वो इस जजमेंट को रिवर्स करने की कोई उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे वो भी कहते हैं कि नहीं एक्यूज की परमिशन के बिना नार्को टेस्ट नहीं हो जाए तो ये कसब है या हसन अली है या जो कि भ्रष्ट लोग है ए राजा हो या सुरपंखा गांधी हो या आ, आ, ये कलमड़ी तो ये क्या भ्रष्ट लोग ऐसा कहेंगे कि हाँ मेरा नार्को टेस्ट लो तो मैंने जो प्रोसीजर प्रपोज की उसमें narco test by majority approval है और दूसरा नार्को टेस्ट बाय ज्यूरी है अब आएगा अक्सर मुझे कानून के विद्यार्थी मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस में बी एम के वो मिलते हैं तो बोलते हैं कि भाई राइट टू रिकॉल जुडिशरी पे कैसे पॉसिबल है मैंने बोला कि भाई अमेरिका में है राइट टू रिकॉल तो क्या राइट टू रिकॉल में जुडिशरी में कहा मैंने कहा है अमेरिका में राइट टू रिकॉल गवर्नर है right to recall high court chief जज है टेक्सास में है कैलिफोर्निया में है कुछ दस एक राज्यों में है राइट टू रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ प्रैक्टिकली हर एक जिले में है तो पहले मेरे सामने देखते हैं कि भाई ये बात तो हमको पता ही नहीं हमारे पाठ्य पुस्तक लिखने वालों ने तो ये पाठ्य पुस्तक लिखने वाले हैं वो चोर उच्च के बदमाश से कम नहीं होते मैं उसे टेक्स्ट बुक माफिया बोलता हूँ पाठ्य पुस्तक लिखने वाला जो बुद्धिजीवी होता है वो क्या सोचता है कि यदि मैंने पाठ्य पुस्तक में ज्यूरी सिस्टम के बारे में लिखा या राइट टू रिकॉल के बारे में लिखा तो मुझे टेक्स्ट बुक की पैनल में से मिनिस्टर निकाल देगा और दूसरा जो उसको ग्रांट मिलती है वो अधिकतर आप टेक्स्ट बुक लिखने वाले देखो ना तो किसी न किसी एनजीओ से जुड़े होंगे उसको अमीरों से ग्रांट मिलती है तो मैं टेक्स्ट बुक में ये बात लिखूंगा राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट चीफ जज राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज या तो ज्यूरी सिस्टम तो वो ग्रांट भी मेरी बंद कर देंगे तो उस आदमी को टेक्स्ट बुक ऐसी लिखनी होती है ताकि अमीरों से या तो जो मिनिस्टर वगैरह है उससे उसकी एमिकेबल रिलेशन उससे उसका संबंध अच्छा बना रहे इसलिए भारत की एक भी कानून की टेक्स्ट बुक में या पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में या सिलेबस में आपको ज्यूरी सिस्टम या राइट टू रिकॉल जज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो कुबती जी भी है यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी वगैरह वो चाहते ही नहीं है कि विद्यार्थियों तक ये माहिती जाए मैं यहां तक उन्हें कहा कि आप बोलते हैं कि ये चीज बकवास है तो लिखो टेक्स्ट बुक में कि भाई अमेरिका में जूरी सिस्टम है और लिखो कि जूरी सिस्टम बकवास है गलत है जूरी सिस्टम आपको अपना ओपिनियन रखना हो तो रखो पर ये इन्फॉर्मेशन सप्रेस क्यों कर रहे हो कि विद्यार्थियों को तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं जानी चाहिए कि अमरीका में जूरी सिस्टम है विद्यार्थियों को तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं जानी चाहिए कि भाई अमरीका में right to recall high court chief जज है क्यों क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि नाइन्टी परसेंट लोग तो जो मुझे मिले वो इसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये सच होना ही चाहिए ये क्या कि एक जज आके चढ़ बैठा हम सौ करोड़ आदमियों के पास होता कौन है आ, कहने वाला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और बोलने वाला भाई आ, आज का यूथ है वो इस तरह का डोसाई यूथ नहीं है कि जितने चाहे उतने डंडे मारे और हमें हाँ, हाँ मिलाता जाए तो jury system right to recall ये कंसेप्ट उनको अपील करते हैं इसलिए उनको इन्फॉर्मेशन ही ना दे जाए इसलिए पाठ्य पुस्तक लिखने वाले जो कुब्दी जी हुए उसे स्कूल में या उसके कॉलेजों के पाठ्य पुस्तक में लिखते ही नहीं है दूसरा जो टीवी चैनल वगैरह है वो तो आप जानते ही every news is a paid news every editorial is a paid editorial every columnist is a paid columnist तो जो कॉलम लिखने वाले भी बुद्धिजीवी है फिर वो अरुण शौरी हो या तो ये अंकलेश्वरी या जितने भी कॉलमिस्ट है वो भी पब्लिक को राइट टू रिकॉल जज जो अमेरिका में है या दूसरे देशों में है और जूरी सिस्टम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते क्योंकि वो देखते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन यदि उन्हें कार्यकर्ताओं को और पब्लिक में देनी शुरू की तो अमीर आदमी जो उसके कॉलम के को सब्सिडाइज कर रहा है वो बंद करा देगा ये कॉलम का इकोनॉमिक्स क्या होता है कि मान लो मुझे अखबार में कॉलम चाहिए तो अखबार का मालिक बोलता है कि भाई इतना कॉलम है वो छाप दूंगा पर बदले में तो मुझे इतनी एडवर्टाइजमेंट ला के दे तो या तो मुझे इतनी एडवर्टाइजमेंट लाके देनी पड़ेगी या तो मेरा कोई इंडस्ट्री में कोई आका हो मास्टर हो मेरा या तो मेरा गॉडफादर हो वो इंडस्ट्री है इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि अखबार वालों को करोड़ों की एडवर्टाइज दे रहा है हर साल की तो इंडस्ट्रियलिस्ट उस अखबार के मालिक को या टीवी चैनल वाले को फोन करेगा कि भाई ये मेरा आदमी है मेरा ही चमचा है इसका कॉलम तुम कल से शुरू कर दो तो ये कॉलम का इकोनॉमिक्स होता है every why I say every column is a paid column कि वो कॉलमिस्ट का यदि कोई इंडस्ट्री में गॉडफादर या आका नहीं है तो उसका कॉलम है वो बंद हो जाएगा तो उसको अपने गॉडफादर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है उसकी लिमिट में रहकर लिखना होता है तो देश में अमीर आदमी कोई देश में अमेरिका के अमीर आदमी भी नहीं चाहते कि ज्यूरी सिस्टम हो अमेरिका में भी जो बड़े नेता है प्रेसिडेंट लेवल के वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर वो नहीं चाहते कि ज्यूरी सिस्टम हो क्योंकि ज्यूरी है वो आम आदमी है वो उनकी सत्ता में कटौती लाती है बुरी सत्ता में अच्छी सत्ता में नहीं उनको गलत काम करने होते हैं तो ज्यूरी उनके रास्ते में रोड़े अटका सकती है इसलिए वो जो कॉलमिस्ट है अखबार में वो भी कभी ज्यूरी सिस्टम के बारे में नहीं लिखेंगे मैं पिछले 12 सालों से ज्यूरी सिस्टम का प्रचार करता हूं तो अधिकतर हाईली लिटरेट लोग जो कि अखबार का पूरा कॉलम पढ़ते हैं किताबें पढ़ते हैं बुक्स पढ़ते हैं बुक्स मतलब जो एमिनेंट इंटेलेक्चुअल जो बोलते हैं एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स बुक लिखते हैं वो बुक पढ़ते हैं वो भी बोलते हैं कि भाई हमें जूरी सिस्टम का जे भी पता नहीं था हमें पता भी नहीं था कि दुनिया में एक ब्रह्मांड में ऐसे देश है यहाँ पे जजमेंट जज uh, नहीं देता पब्लिक देती है मैंने कहा देती इतना नहीं पिछले ढाई सौ साल से अमेरिका में ज्यूरी सिस्टम चल रही है और इसलिए अमेरिका इतना मजबूत देश बना है अब uh, आप और आपको आप ये भी देखिए आपको अभी भी कोई भी कानून की किताब ले लो कोई भी वकील से बात करो या तो कोई जज से बात जो कानून की किताब जिसने पढ़ी हो लिखी हो या तो uh, उसके टच में आता हो उससे पूछिए कि भाई आपकी किताब में कभी भी ज्यूरी सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा एमए पॉलिटिकल साइंस वाले को पूछो कि आपने राइट टू रिकॉल जज अमेरिका में है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा बीए पॉलिटिकल साइंस वालों को तो कुछ भी नहीं पता यहां तक कि उनको एक कंपैरेटिव गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है comparative politics comparative politics comparative government में सब्जेक्ट का सिलेबस ही है कि अलग-अलग देशों की गवर्नमेंट को कंपेयर किया जाए तो जब अमेरिका और इंडिया की गवर्नमेंट का कंपैरिजन आता है तो उसमें जूरी सिस्टम नहीं होती उसमें राइट टू रिकॉल ही होगा बस ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है बस बात खत्म एक ही पॉइंट पे वो लोग बात खत्म कर देते हैं कि भाई यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है पर अमेरिका में जो जुडिशरी में मौलिक फर्क है कि जजमेंट वहां पे सिटीजन देते हैं यहाँ पे जजमेंट जज देता है जज उसका नेक्सस बन जाता है वो अपने रिश्तेदारों को फेवर करता है वो पॉइंट नहीं आता अब जज सिस्टम से कास्टिज्म कैसे बढ़ता है कि मान लो मैं जज हूं और मुझे बोला कि भाई जजमेंट देने हैं तो मैंने अपने रिश्तेदार वकीलों के फेवर में जजमेंट देने शुरू कर दिए एक के बाद एक के बाद एक अब मेरे रिश्तेदार कौन होंगे भाई मैं बनिया हूं तो मेरे रिश्तेदारों में अधिकतर बनिया ही होंगे दो चार शायद एक दो ब्राह्मण पटेल आ जाए तो सोसाइटी में क्या परसेप्शन आएगा कि मैं कास्टिस्ट हूं असल में मैं कास्टिस्ट नहीं हूं गरीब बनिया आया तो थप्पड़ मार के भगा दूंगा कास्टिज्म नहीं होता ऐसा नहीं है कि जज है वो कास्टिस्ट है या कोई भी अफसर मिनिस्टर हो या जज हो या आईएएस आईपीएस हो वो कास्टिस्ट नहीं होता उसकी कास्ट का कोई गरीब आदमी आएगा तो दो थप्पड़ मार के भगा देगा पर वो नेपोटिक होता है वो यारों दोस्तों को फेवर करता है अपने दोस्तों को और उसके दोस्तों में अधिकतर उसके कास्ट के होना स्वाभाविक है और इससे सोसाइटी में कास्ट का कंसेप्शन क्रिएट होता है और पूरी सोसाइटी में कास्टिज्म का परसेप्शन आने की वजह से एक आम अपर कास्ट के आदमी और आम लोअर कास्ट के आदमी भी दुश्मनी हो जाती है तो ये नेपोटिज्म है जो कास्टिज्म के परसेप्शन को मजबूत बनाता है और कास्टिज्म की समस्या को मजबूत बनाता है और नेपोटिज्म कैसे खत्म किया जाए अदालत के अंदर जो है एक तो recruitment by written exam only recruitment by written exam only यानी कि इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए और ये जूरी सिस्टम अब दूसरे जो पोलिटिकल पार्टी है या ग्रुप है उनका राइट टू रिकॉल या जूरी सिस्टम के बारे में क्या मानना है जैसे बीजेपी है कांग्रेस है सीपीएम है आजादी बचाओ आंदोलन में Rajiv Dikshit ji right to recall के समर्थक थे लेकिन आजादी बचाओ आंदोलन में राजीव दीक्षित के सिवा सारे सर से पांव तक हमेशा राइट टू रिकॉल के विरोधी रहे आरएसएस फिर ये कांग्रेस सीपीएम मायावती समाजवादी दल ये सब जूरी प्रथा के विरोधी हैं और राइट टू रिकॉल के विरोधी हैं सब एक से बढ़कर एक वो अपने कार्यकर्ताओं को आदेश देते हैं कि राइट टू रिकॉल का प्रचार बंद करो ज्यूरी सिस्टम का प्रचार बंद करो आपको विश्वास नहीं होता तो आप उनको फोन करके पूछ लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी भी राइट टू रिकॉल जज के विरोधी है right to recall Supreme Court जज का उन्होंने विरोध किया right to recall high court chief जज का आप उनको फोन करके पूछ सकते हैं अब अक्सर ये बात कही जाती है कि नहीं अच्छे आदमी लाओ जो पुराने जमाने में सतयुग में हुआ करते थे या द्वापर युग में हुआ करते थे तो ऐसा कुछ नहीं है अच्छे आदमी है सिस्टम का इंपॉर्टेंट होता है इसमें मैं आपको ये आ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ हस्तिनापुर का केस सुनाऊं सुप्रीम कोर्ट ऑफ हस्तिनापुर में आ, उस समय चीफ जस्टिस थे जस्टिस धृतराष्ट्र और डेपोटिज्म उस समय भी था जुडिशरी में कि उनका लड़का ही क्राउन चीफ जस्टिस था मतलब कि उनके मरने के बाद वो क्राउन चीफ जस्टिस दुर्योधन तो भाई सुप्रीम कोर्ट होता है देश के काम के लिए वहां उन्होंने जुए खेलने शुरू कर दिए जुआ खेलना है तो क्लब में जाके खेलो सुप्रीम कोर्ट में खेलते हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ हस्तिनापुर में वहां जुआ खेलना शुरू कर दिया और जस्टिस दुर्योधन और उसके सामने दूसरे राज्य के जस्टिस युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे और बाकी जब द्रौपदी की वहां पे पब्लिक में जो छेड़खानी हुई तो आप देखिए उस समय professor doctor Dronacharya Supreme Court में मौजूद थे उन्होंने जस्टिस दुर्योधन को सपोर्ट किया विरोध नहीं किया आप महाभारत पढ़ लीजिए प्रोफेसर डॉक्टर वेदव्यास ने जो महाभारत लिखी आप पढ़ लीजिए प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य ने कोई विरोध नहीं किया कुछ नहीं तो कम से कम वो रेजिग्नेशन की धमकी तो दे सकते थे कि भाई मैं आ, उनके पास हथियार भी थे वो मारपीटाई की धमकी भी दे सकते थे सारे हथियारों का ज्ञान था ब्रह्मास्त्र से लेके छोटे मोटे तीर से लेके ब्रह्मास्त्र सारे वो दुर्योधन को मारपीटाई की धमकी भी दे सकते थे भाई द्रौपदी को छोड़ दो वरना मैं ब्रह्मास्त्र चला दूंगा पर प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य देखते रहे उन्होंने दुर्योधन को इंडायरेक्टली सपोर्ट दिया जस्टिस uh, धृतराष्ट्र ने भी अंदर से सपोर्ट किया कोई विरोध नहीं किया जस्टिस भीष्म भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने भी जस्टिस दुर्योधन का कोई विरोध नहीं किया और वो को सारे बुद्धिजीवी उस समय जो वहां पे थे उन्होंने क्या देखा कि भाई द्रौपदी अब तो आम नागरिक है क्योंकि वो दासी बन चुकी थी मतलब गुजराती में बोले तो टूटी गए पार्टी कि अब पहले वो अमीर घराने से थी लेकिन वो सब राजपाट हार चुके थे अब अब अब इस आम नागरिक का हमें क्यों साइड लेना यानी मेरा पॉइंट क्या है कि जब न्यायाधीश यदि जस्टिस दुर्योधन या तो जस्टिस ध्रुतराष्ट्र या कोई भी जज जब किसी आम आदमी की छेड़खानी करेगा उसको लूटेगा या दबन करेगा तो जितने भी बुद्धिजीवी है वो जस्टिस को सपोर्ट करेंगे आम आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे और वो आप प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य के स्टैंड से देख सकते हो क्यों उन्होंने सपोर्ट किया ये भी देखने की बात है कि प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य ने क्यों जस्टिस दुर्योधन को सपोर्ट किया कि एक तो वो हस्तिनापुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे जितने भी बुद्धिजीवी होते हैं आप देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पोजिशन से या प्राइवेट पोजिशन से जुड़े होते हैं उन्होंने कहा कि उसने मेरे को यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की नौकरी से निकाल दिया तो मेरी आमदनी कम हो जाएगी साथ में वो हो सकता है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज भी चला रहे हो साइड में ट्यूशन क्लास भी चला रहे हो और उनके सामने वो एकलव्य की फाइल थी उन्होंने जो एकलव्य का अंगूठा कटवाया उसमें दलित एट्रोसिटी का केस हो सकता था और एकलव्य की उम्र 18 साल से कम थी यानी वो माइनर था और माँ बाप को बुलाए बिना उसने ये किया तो चाइल्ड एट्रोसिटी का केस भी हो सकता था तो प्रोफेसर डॉक्टर द्रोणाचार्य डर गए कि यदि मैंने जस्टिस दुर्योधन का विरोध किया और जस्टिस दुर्योधन ने वो एकलव्य की फाइल खोल दी तो बेकार में मेरे को दस साल की जेल की सजा हो सकती है इसलिए सारे बुद्धिजीवी होते हैं वो हमेशा बड़े आदमियों की साइड लेते हैं वो कोई आम नागरिक के लिए नहीं आता और वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ हस्तिनापुर में जो ये छेड़खानी का केस बना उससे स्पष्ट साबित होता है इसलिए यदि आम नागरिक को अदालत सुधारनी है तो उसे बुद्धिजीवियों को साफ साफ मानना चाहिए कि एक भी बुद्धिजीवी तुम्हारे काम नहीं आएगा सोसाइटी का प्रोफेसर हो या जर्नलिस्ट हो या गवर्नमेंट का आदमी हो एक दो परसेंट अच्छे होंगे वो मैं नहीं मना करता एक दो परसेंट उनमें भी अच्छे होते हैं पर दो तीन परसेंट लिमिट हो गई एक भी बुद्धिजीवी तुम्हें ये अदालत सुधारने के काम में नहीं आएगा जो काम अदालत सुधारने का है वो हम आम आदमियों को ही करना है वो हम कार्यकर्ता को ही करना है कोई नेता अधिकारी बुद्धिजीवी तुम्हें इस काम में नहीं आएगा अब जुडिशरी का जो वर्तमान जुडिशरी का रवैया क्या है कि कोई आदमी जुडिशरी के भ्रष्टाचार के बारे में बोलता है तो उसे कितना परेशान किया जाता है ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था उसने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में सारे राज्यों में नहीं अलग अलग राज्यों में कुछ 12 राज्यों में उसने सर्वे लिया उसने लोगों से पूछा कि भाई पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या रवैया क्या आपको ओपिनियन है जुडिशरी के भ्रष्टाचार के बारे में क्या है हॉस्पिटल के बारे में सबके बारे में उसने पूछा तो जुडिशरी उसमें दूसरे नंबर पे आई तो मैं तो बोलता हूँ जो मूर्ति पूजा क्या है मूर्ति पूजक यानी हमारे बुद्धिजीवी है मूर्ति पूजा है मूर्ति पूजक यानी न्याय मूर्ति पूजा न्याय मूर्ति की पूजा करने वाले बुद्धिजीवी है वो न्याय मूर्ति को भगवान मानते हैं तो मैं तो कहूंगा कि भाई तुम्हें खुश होना चाहिए तुम्हारे लड़के सेकंड नंबर पे पास हुए गांव में पेड़े बांटो तो जुडिशरी का तो उसने जो सर्वे लिया था सर्वे का उसने रिपोर्ट पब्लिश किया कि भाई आम आदमी कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट पुलिस है और दूसरे नंबर पे जुडिशरी आती है तो वो आर्मी ऑफिसर दिल्ली में है जम्मू कश्मीर के कोर्ट ने कंटेम्प का नोटिस निकाला मतलब देखो यहां साफ साफ दिखता है मोटिव ऑफ द जज कि उस आदमी को परेशान करना है भाई उस आदमी वो कोई क्रिमिनल तो है नहीं वो दिल्ली में है वो जम्मू कश्मीर गया नहीं है जम्मू कश्मीर में वो सर्वे ले नहीं पाया था लिया नहीं था ले नहीं पाया था और वो दिल्ली में है तो दिल्ली में कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है जहां उसके सामने केस चला जाए क्यों उसको जम्मू कश्मीर धक्का खिला रहे हो वो हेरेसमेंट का केस है कि कोई भी आदमी जुडिशरी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो जुडिशरी उसे सर से पांव तक हैरेस करती है प्रताड़ित करती है कि भाई चुप रह तू खबरदार तूने जुडिशरी के करप्शन या नेपोटिज्म के बारे में कुछ बोला अब आ, जो बाकी मैंने आपको बताया जूरी सिस्टम के बारे में कुछ और छोटे पॉइंट है कि कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए वेलटेक्स जरूरी है ताकि कोर्ट के पास पैसा आए फिर एक लाख अदालतों की जरूरत है अभी हिंदुस्तान में कुछ अठारह हजार जितने अदालत है और तीन करोड़ केस है यदि तीन करोड़ केस को तीन साल में निपटाना है वो भी बहुत ज्यादा हो गया तीन करोड़ केस मान लो तीन साल में निपटाना है यानी कि एक करोड़ केस एक साल में निपटाना है अब एक अदालत मान लो सौ जजमेंट भी देती है तो इसका मतलब हमें एक लाख अदालत चाहिए और एक लाख अदालत के लिए इतना स्टाफ चाहिए और इतना आ, मतलब समन्स भेजने के लिए कांस्टेबल चाहिए और भी सिस्टम शुरू करने पड़ेंगे कि कोई भी आदमी है वो अपने आप को रजिस्टर करे कि भाई मैं अपना समन्स वेबसाइट से डाउनलोड कर लूंगा या ईमेल से भेज सकते हो तो उसको समन्स ईमेल से भेजा जाए उसका फायदा क्या है कि यदि मैं अपने आप को रजिस्टर करता हूं तो लोग मुझसे बिजनेस करने को तैयार होंगे कि भाई ये आदमी यदि क्राइम करता है तो चलो मेरे को समन्स भेजने होंगे तो कोर्ट इसको ईमेल से भेज देगी तो कभी कभी समन्स पहुंचने में एक साल निकल जाता है बहुत सारे अदालत में ऐसे ऐसे केस है जो कि एक साल दो साल तक पड़े हुए हैं और आदमी को अभी तक समन्स नहीं भेज पाए और उसका कारण जज का भ्रष्टाचार हो पुलिस का भ्रष्टाचार हो जो पर वो प्रॉब्लम है वो ये इलेक्ट कि समन्स ईमेल से भेजे जाए उस प्रकार की व्यवस्था से कम हो सकती है दूसरा जो मेरा सजेशन है जो सारे बुद्धिजीवियों को करंट देता है वो है कि कानून का विषय फिफ्थ क्लास से पढ़ाना चाहिए जब भी माँ बाप एग्री माँ बाप बोले सिक्स क्लास है तो सिक्स क्लास है माँ बाप बोले टेंथ क्लास है तो टेंथ क्लास है माँ बाप से झगड़ा नहीं करना है पर माँ बाप बोले कि भाई मेरे लड़के को फर्स्ट स्टैंडर्ड से कानून सिखाओ या फिफ्थ स्टैंडर्ड से कानून सिखाओ तो उसे फिफ्थ स्टैंडर्ड से कानून सिखाना चाहिए सारे बुद्धिजीवी या कुबुद्धिजीवी इसके विरोधी है कि नहीं आम नागरिक को कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए एलएलबी में तो देनी पड़ेगी क्योंकि वकील चाहिए कोर्ट चलाने के लिए इसमें देनी पड़ेगी इसलिए एलएलबी में कानून सिखाओ लेकिन वो ट्वेल्थ के लड़कों को भी बोलते हैं कि कानून नहीं सिखाना चाहिए कॉलेज में जो BA BCom BSc B tech कर रहे हैं उनको भी कानून नहीं सिखाना चाहिए तो ये कुबुद्धिजीवियों की आज की नहीं सौ साल पुरानी रीत रही है रविंद्रनाथ टागोर ने भी आ, मैं उन्हें कमीना आदमी मानता हूँ रविंद्रनाथ ठाकुर जो जनगणगण है वो उसने नोबेल प्राइज चाहिए था इसलिए उसने शहनशाह की तारीफ में लिखा कि तुम हमारे भगवान हो तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान उठ के तुम्हारा आशीर्वाद मांगता है वगैरह जो उसने गाना लिखा था जनगणगण बैन होना चाहिए गवर्नमेंट प्लेस पर बैन कर देना चाहिए और उसकी जगह वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रगीत मिलना चाहिए तो रविंद्रनाथ टागोर ने भी शांति निकेतन में कानून के विषय पर पाबंदी लगा रखी थी कि विद्यार्थियों को कानून का शिक्षण नहीं मिलेगा और आज के बुद्धिजीवी भी यही बोलते हैं कि विद्यार्थी को कम से कम गणित सिखाओ कम से कम विज्ञान सिखाओ कम से कम इंजीनियरिंग हथियार चलाने का तो शिक्षण देना ही नहीं चाहिए मेल कटर चलाने का शिक्षण दिया बहुत हो गया और कानून का शिक्षण भी नहीं देना चाहिए कि उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आईपीसी क्या होता है बेल किसे कहते हैं जज किसे कहते हैं मजिस्ट्रेट और जज में क्या फर्क है आ, पुलिस के क्या पावर होते हैं एविडेंस एक्ट क्या होता है ये कोई भी जानकारी आम नागरिक तक नहीं होनी चाहिए और मेरा सजेशन है कि कानून का एजुकेशन फिफ्थ स्टैंडर्ड से होना चाहिए और जितने आप एमपी से मिलोगे तो जो एमपी ऑपोजिशन में है वो लो एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो जब पावर में थे तब उन्होंने ये कुछ नहीं किया जैसे कि मैंने अहमदाबाद में सुब्रमण्य स्वामी की स्पीच सुनी थी तो उन्होंने बोला था कि कानून का एजुकेशन स्कूल से शुरू होना चाहिए तो मैंने बोला कि भाई आप 1977 में मिनिस्टर रह चुके उसके बाद 1989, 99 में दोबारा मिनिस्टर बने थे तो तब आपको साफ सुन गया था तब आपने क्यों कुछ नहीं किया कानून को एजुकेशन का सिलेबस मतलब टेंथ स्टैंडर्ड या एट स्टैंडर्ड या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के सिलेबस में डालने के लिए पर अब जब वो अपोजिशन में है तो कानून के एजुकेशन की बात करते हैं और जब वापस मिनिस्टर बनेंगे तो ये बात उनकी भूल जाएंगे तो सारे बहुत सारे अपोजिशन के एमपी इस बात को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो झूठे हैं वो झूठे क्यों हैं कि भाई उनके राज्यों में राज्य सरकारें हैं उनके पार्टी की वहां क्या कानून का एजुकेशन दिया जाता है फिफ्थ स्टैंडर्ड से या सिक्स स्टैंडर्ड से या टेंथ स्टैंडर्ड से तो सारे एमपी अंदर से मिले हुए हैं वो नहीं चाहते कि कानून का एजुकेशन दिया जाए मेरी ये दरखास्त है कि कानून का एजुकेशन फिर स्टैंडर्ड से होना चाहिए अब ज्यूरी सिस्टम आने से स्वदेशी का फायदा होगा ये बात आ, कुछ विरोधास्पद लगती है कि जो स्वदेशी में मानने वाले संगठन है तो ये स्वदेशी जागरण मंच आजादी बचाओ आंदोलन उसमें Dikshit ji right to recall के समर्थक थे और जूरी प्रथा का भी वो समर्थन करते थे लेकिन बाकी सब लोग जूरी प्रथा का विरोध करते हैं आज़ादी बचाओ आंदोलन और स्वदेशी जागरण दोनों और जूरी प्रथा आने से कैसे स्वदेशी को फायदा होगा कि जूरी देखेगी कि भाई ये लोकल आदमी है और ये विदेशी कंपनी है और कोई भी हिंदुस्तानी आदमी देखेगा कि भाई ये लोकल कंपनी है इससे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है देश का पैसा देश में रह रही है तो जहां तक यदि उसके सामने गलत केस डाले गए हैं स्वदेशी कंपनी के सामने तो उस केस को खारिज कर देगी ऑफिसर को फाइन लगा देगी अमेरिका में ऑफिसर जो गलत केस डालने से घबराते हैं क्योंकि जूरी तो बरी कर ही देती है जिसके सामने गलत केस डाला ऊपर से ऑफिसर को फाइन हो सकता है कि आपने इतना अनक्षण आप गलत केस क्यों डाला इस आदमी को तो स्वदेशी आंदोलन में ये बहुत महत्व की भूमिका निभा सकती है इसी तरह से जो टैक्स अथॉरिटी के हेरेसमेंट है वैट डिपार्टमेंट है sales tax department income tax excise वो जूरी सिस्टम आने के बाद खत्म हो जाएगा कि जूरी देखेगी कि भाई ये आदमी एक छोटा मोटा कारखाना चला रहा है एक्साइज वालों ने आके कारखाना बंद करा दिया केस तो किया इसके ऊपर केस देखा उन्होंने भाई केस तो कुछ नहीं है ये आदमी तो एकदम ईमानदार है अब जूरी सोचेगी कि अब हमने इस आदमी की मदद नहीं की तो क्या होगा ये आदमी फैक्ट्री बंद करके चला जाएगा ये चला जाएगा दूसरा चला जाएगा तीसरा चला जाएगा तो युवकों को एम्प्लॉयमेंट कौन देगा यदि युवक अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो गरीब हो जाएंगे गुंडागर्दी पे आ जाएंगे आवारागर्दी पे आ जाएंगे इसलिए जो ज्यूरी होती है वो हमेशा एक उद्यमी व्यक्ति को आदर की नजर से देखती है कि भाई ये उद्यमी व्यक्ति है वो कुछ कारखाना चला रहा है वो कुछ धंधा पानी चला रहा है दुकान चला रहा है तो उसकी वजह से हमारे आसपास के एरिया के युवकों को नौकरी मिल रही है समृद्धि मिल रही है उनको आ, वो आवारागर्दी नहीं करते गुंडागर्दी नहीं करते इसलिए जूरी हमेशा प्रो एम्प्लॉयर एटीट्यूड रखती है फिर एम्प्लॉयर यदि शोषण कर रहा है तो अलग बात है तो वो एम्प्लॉय का पक्ष लेगी लेकिन गवर्नमेंट का ऑफिसर का अप्रोच अलग होता है गवर्नमेंट ऑफिसर दो रीजन से उसको परेशान करता है एक तो उसको पैसा उगलवाना है दूसरा कि कभी कभी जो बड़े उद्योगपति होती है मल्टीनेशनल कंपनियां वगैरह वो अफसरों को रिश्वत देती है कि जाओ तुम छोटे उद्योगों को फैक्ट्री वालों को परेशान करो ताकि वो अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दे ताकि हमारा धंधा बढ़े तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा जब जूरी को पता लगेगा कि भाई ये अफसर तो बड़ी कंपनियों के इशारे पे काम कर रहा है और दिख तो जाए भाई रवैये से बात ठीक लगेगी कि भाई ये कानून तूने मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों नहीं लगाया जो इस छोटे आदमी पे ये कानून की एक के बाद एक सारी कलमें लगा रहा है तो रवैये से पता लग जाएगा तो जूरी ऐसे सबको दंड करेगी या तो नौकरी से निकाल देगी तो अपने आप छोटे उद्योगपतियों का प्रोटेक्शन बढ़ेगा जिस जिस देश में जूरी प्रथा मजबूत है जूरी सिस्टम वहीं पे छोटे उद्योगों को प्रोटेक्शन मिल पाया है तो जूरी सिस्टम आने से ये जो इंस्पेक्टर राज है income tax inspector sales tax inspector excise inspector custom फिर प्रोविडेंट फंड लेबर ये सारा इंस्पेक्टर राज है जूरी सिस्टम आने से खत्म हो जाएगा और इससे देश में उद्योग बढ़ेंगे और विकास होगा तो ये सारे मैंने आपको बैकग्राउंड दिया कि एक तो भारत में अदालतें मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब भ्रष्ट हो चुकी है हमारे बुद्धिजीवियों को बुद्धिजीवियों को अदालत सुधारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है आप किसी भी बुद्धिजीवी से पूछिए कि भाई मुझे एक पेज दो पेज तीन पेज का सॉल्यूशन दो कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का नेपोटिज्म बंद हो सकता है तो वो तुरंत टॉपिक चेंज कर देंगे एक तो पहले न्यायाधीशों का भ्रष्टाचार वो बोलेंगे न्याय तंत्र की कमियां पर मैंने न्याय तंत्र की कमियां गिलाने को नहीं बोला मैंने बोला कि जुडिशरी जज साहब के भ्रष्टाचार का उपाय दो उनके नेपोटिज्म का उपाय दो तो वो तुरंत टॉपिक बदल देंगे कि नहीं इस टॉपिक पे बहस ही नहीं होनी चाहिए जुडिशरी की कमियां पे बात होनी चाहिए फिर वो मुद्दा बनाएंगे सिर्फ एफिशिएंसी को कि देर होती है भाई देर होती है वो सचमुच एक मुद्दा है पर इस बात का क्या कि उनके वकील रिश्तेदार वकीलों के फेवर में जजमेंट आते हैं और पैसे लिए जाते हैं जजमेंट देने के लिए तो बुद्धिजीवियों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट ही नहीं है आम आदमियों को करना पड़ेगा प्रॉब्लम कैसे गैजेट में अच्छे कानून छपवा के कौन से कानून कौन से कानून में आपको जो कानून ठीक लगे मैं जो सजेशन देता हूँ वो ये है राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट जज राइट टू रिकॉल प्रिंसिपल सेशन कोर्ट जज फिर राइट टू रिकॉल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फिर ज्यूरी सिस्टम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तीनों में आ, uh, पूरी लोअर uh, कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट हर जगह ज्यूरी सिस्टम होनी चाहिए कहीं जज सिस्टम नहीं होनी चाहिए और वेल्टर्स जमीन पे ताकि पैसा मिल सके अदालतें खोलने के लिए एक लाख अदालत खोलने की जरूरत है और उसके बाद फिफ्थ स्टैंडर्ड से कानून का एजुकेशन डालना जितने भी अदालत में अधिकारी काम करते हैं न्यायाधीश गवर्नमेंट ऑफिसर सबके पास जो वेल्थ है वो इंटरनेट पर रखना कौन से जज के पास कितनी वेल्थ है उनके रिलेटिव के पास जज के जितने रिश्तेदार हैं उनके भी वेल्थ के और उनके रिलेटिव के पास जो कंपनियां और ट्रस्ट है क्योंकि अधिकतर ये गवर्नमेंट ऑफिसर के रिश्तेदार क्या करते हैं तो अपने नाम पे जमीन नहीं रखते वो ट्रस्ट बना लेते हैं और ट्रस्ट के नाम पे दस बीस हजार करोड़ की जमीन भी हो सकती है पचास करोड़ की भी हो सकती है जैसे कि अडवाणी है जिन्हें मैं एल्यूमिनियम पुरुष बोलता हूँ अपने आप को वो लॉ पुरुष बोलते हैं लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या आई तो एल्यूमिनियम पुरुष बन गया नेशनल आईडी सिस्टम का कानून नहीं पास किया उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए तो जो एल्यूमिनियम पुरुष है वो एफिडेविट पे लिखते हैं कि उनके पास पाँच करोड़ की संपत्ति है ठीक है सही संपत्ति है उनके पास एक घर था लिया था उन्होंने पच्चीस तीस लाख में आज उसकी मार्केट वैल्यू एक लाख एक करोड़ हो गई तो वो कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं हुआ मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो बढ़ गई तो उन्होंने बोला कि उनके पास चार पाँच करोड़ की दौलत है पर बाद में मुझे पता चला कि वो एक ट्रस्ट के ट्रस्ट की है कुशाभाव ठाकरे और उस ट्रस्ट के पास जमीन है वो कुछ चालीस पचास करोड़ की है तो ये एफिडेविट का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास पांच करोड़ की प्रॉपर्टी है और तो ट्रस्ट का नाम उन्होंने लिखा ही नहीं एफिडेविट में कानूनी लिखने की जरूरत भी नहीं थी पर जितने भी ये जज है एमपी है एमएलए है गवर्नमेंट में आईएएस है और उनके रिलेटिव के पास जो ट्रस्ट है उनके ट्रस्ट और उनके रिलेटिव के ट्रस्ट वो ट्रस्ट के पास कितनी जमीन है कितनी प्रॉपर्टी है वो भी वेबसाइट पर आनी चाहिए और सिटीजन को इन्वॉल्व किया जाए लॉ की प्रोसेस में तो ज्यूरी सिस्टम तो है कि ज्यूरी समन्स आते हैं तो आदमी को जाना पड़ता है प्लस प्रोसिक्यूशन समन्स जो मैं बोलता हूँ कि अदालत में कोई केस चल रहा है तो नागरिक को समन्स भेजे जाएंगे कि भाई आपको कोर्ट में अटेंड करना पड़ेगा ये ट्रायल वहाँ पे गवाह या वो ना विटनेस है ना गवाह है ना एक्यूज है ना विक्टिम है पर आपको कोर्ट का ट्रायल अटेंड करना पड़ेगा ताकि नागरिक है वो अदालतों के कॉन्टेक्ट में आए अदालतों से प्रति उसका डर खत्म हो उसके उसका परिचय बढ़ेगा अदालतों से तो compulsory attending the court trial इस तरह से कि भाई हर एक नागरिक को हफ्ते में कम से साल में कम से कम छह दिन कोर्ट का ट्रायल अटेंड करना पड़ेगा इसमें यदि वो बिजी है तो चलो दूसरे दिन आए उस दिन वो काम नहीं आ किसी काम में फंसा हो तो दूसरे तीसरे चौथे दिन आए पर साल में कम से कम पाँच छह दिन उसे कोर्ट के ट्रायल अटेंड करने पड़ेंगे कोर्ट का चीज उसको समझने की कोशिश और अधिकतर लोग इसमें रुचि भी लेंगे क्योंकि हर एक आदमी को पता है कि किस्मत का कोई भरोसा नहीं कब उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े तो इस तरह से हम नागरिक और कार्यकर्ता बिना नेता और बड़े नेता की मदद के बिना कानून सुधार अदालत में सुधार सकते हैं जहां तक मेरा बड़े नेताओं का का मैंने स्टडी किया अन्ना हो या छोटे अन्ने हो या सुब्रमण्यम स्वामी हो या उनको भारत की अदालत सुधारने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और काफी लोगों ने पूछा उनको मेरा मेरा उनको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ लेकिन मैंने उनके वॉलेंटियर से पूछा कि भाई आपके नेता है वो कुछ ड्राफ्ट दे सकते हैं कि जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज का नेपोटिज्म कम हो भ्रष्टाचार कम हो हाई कोर्ट के जज का भ्रष्टाचार नेपोटिज्म कम हो तो बोलते हैं कि वो ड्राफ्ट देने से मना कर रहे कि सिर्फ आ, बस मैं अदालत में जाऊंगा केस करूंगा तुमको बस केस के बारे में अखबार में पढ़ना है और बजा रही है और दूसरे की मैं लोकपाल के नाम पे अनशन पे बैठूंगा मैं अनशन पे बैठूंगा तो मैं भीड़ इकट्ठा करके मेरी जय जयकार करूंगा कि अदालत सुधारने के लिए हम कोई गैजेट नोटिफिकेशन वगैरह नहीं देंगे तो इसलिए हम कार्यकर्ताओं को ही एक नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट पढ़ के और लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और इसके और यदि हमने अदालत नहीं सुधारी तो, तो आम आदमी है वो विक्टिम बनता जाएगा ज्यादा से ज्यादा क्राइम का विक्टिम बनता जाएगा वो सोसाइटी के प्रति उसकी नफरत बढ़ती जाएगी देश के प्रति उसकी आ, उसका स्नेह प्राय प्यार जो भी हो वो कम होता जाएगा फिर हम कहेंगे कि राष्ट्रीयता कम हो गई लेकिन यदि अदालतें यानी राष्ट्र का महत्वपूर्ण हिस्सा पुलिस अदालत यदि वो नागरिकों को प्रताड़ित करती है नागरिकों की मदद नहीं करती तो नागरिक की राष्ट्र के प्रति आस्था कम ही हो जाएगी हमें जिन जिन देशों में अदालतों में भ्रष्टाचार कम है वहाँ पेट्रियोटिक वैल्यूज ज़्यादा है वहाँ के लोग ज़्यादा नेशनलिस्ट होते हैं जैसे अमरीका है तो वहाँ के लोग काफ़ी पेट्रियोटिक है जापान तो वहाँ के लोग काफ़ी पेट्रियोटिक है क्यों क्योंकि उनको उनको कोई परेशान करता है गुंडा या सरकारी अधिकारी तो अदालत उसकी मदद करते हैं पुलिस उसकी मदद करती है तो उनमें पेट्रियोटिज्म बना रहता है और जिन जिन देशों में अदालत और पुलिस में भ्रष्टाचार है नेपोटिज्म है वहाँ के देश लोगों के देश में आप वहाँ के देश के लोगों में आप देखोगे तो राष्ट्रवाद नेशनलिज्म कम है तो इस तरह से हम अदालतें बचा सकते हैं धन्यवाद